हमें तो अपने परवरदिगार की तरफ से उस दिन का डर लगा हुआ है जिसमें चेहरे बुरी तरह बिगड़े हुए होंगे